ये सब गलत नहीं है नहीं ये सब समझो गलत है वही सही है नहीं ये भी तुम्हारे के लिए यही सही है अरे एल के जी में पढ़ेगा उसको जाकर प्रोफेसर पढ़ाएगा यूनिवर्सिटी वाले क्या समझेगा बच्चा और जब डिग्री पढ़ने वाला वो कहेगा अरे वो टीचर बेकार नहीं उस समय के वही ठीक थी ये भी सीधी पढ़ने वही सही थी उस स्थिति के लिए वो सही है और इस स्थिति के लिए अपने अपने जगह पर सभी उचित सारे गुरु सिद्धि हुई हमारे जैसे स्टेज बढ़ेगी वैसे इधर यहाँ पर भी कह रहे देखो अनित्य साध्य साधन बोल रहे थे ये सारा अनित्य साध्य साधन है ये सब को छोड़ के आगे जब बढ़ेगा तो इन संबंधों से इस जन्म के कर लिया जब पूर्व जन्म के संस्कार जो व्रत है उसके लिए भी तो कृत्य का विषया जिज्ञासा प्रवृत्ति प्रत्येक विषय को जिज्ञासा ज्ञान की इच्छा होती है प्रश्न प्रति वचन लक्षण या श्रुत्या प्रदर्शते वही वस्तु को वह या जो किसी रूपा वस्तु है आत्मा है ब्रह्म है प्रश्न प्रतिवचन प्रश्न उत्तर के रूप में व्याख्यान करता हुआ शरीर विनशित विद्या प्रदर्शित प्रदर्शन का प्रदर्शन के जो ऐसे प्रमाण क्या है ऐसा ही है ऐसे सुनिश्चित प्रमाण पराम से खान पराम पशु प्रणाम कच्छ धीर प्रभुरा तनिचल आरती चक्षु अमृत तनिचल यहाँ पर साधना बता है ना हम सच्चाई बता रहे हम लोग तो का स्वभाव क्या है बाहर दे खाली मनी इंद्रियाणी परांच परांच में बहिर्मुख परमेव बहिरेव अंचित गच्छती भी परांश परांश होगा ये तृण स्वयंभू ऐसे करके मानो एक तरह से स्वयंभू परमात्मा ने हम लोगों को हिंसित कर तो इन जीवन को हिंसित कर दिया लेकिन उसमें भी हम समझ में तो क्या करें ये हिंसा है ये समझा ही नहीं आज तक माना एक तरह स्वयंभू ने क्या कर दिया हम पीड़ित कर दिया हिंसित कर दिया तो बाहरी देखते को मुझे लग गया आत्मा प्रकृति को होगा क्या कहते हैं स्वयं स्वयं तस्मात इसलिए ही तो पराम पशुति नाम प्राप्ति इसलिए बाहरी देखते रहता है अंदर देखता ही नहीं कश्चित जीव है प्रत्यगात्मा इनको कोई जीव होता है जो धैर्य है उसके अंदर क्योंकि ये भरोसा नहीं ना कब होगा क्या होगा धैर्य के बिना आदमी इस रास्ते को चल नहीं सकता अत्यंत सावधानी से पीछा थोड़ा जो फिसल तो इधर मार्ग बताया से धारा से समान है तलवार की धार पर चलना इधर कठिन है थोड़ा ध्यान के लिए थोड़ा आगे निकलेगा तो छिल तो जाएगा बताए समझना छिल जाए समझा सरकार मेरे को तार आर पार और तार के ऊपर चलना तार के ऊपर काम कर मेरे दर्द हो गए बचपन से अभ्यास मालिक करने का बाहर से टाइट आपको क्या की करावट उससे भी ज्यादा है खतरनाक रहा इसलिए सावधान ही सावधान की जरूरत सावधानी की जरूरत पग तब पर भी सावधान रहना चाहिए पता नहीं चलता कब आपके अंदर कौन सी रास्ता उठ पड़ेगा और कब आपको मान संचालन दिन रूपये का सब लगे हुए शुरू में तो विघ्न डालते रहते हैं अब पहुंच ही जाओ फिर जय जयकार कर देते देव देवता उनकी पर तो शुरू में हर पहले विघ्न करेंगे विदेशी को भेज दिया उनको भेजता है तो दूसरे ही आ जाते तो उसे काम कर जाता है विदेशी में आती ही नहीं है आने की जरूरत भी नहीं करी हुई है तो इसलिए बातें चलेंगे तो बहुत कठिन काम इधर का जो धीरा क्या करता है ये आवृत चक्षु प्रत्येगात्मान छठ अमृत की इच्छा अमृतत्व की इच्छा से सकल इंद्रियों को आवृत कर देता है बहिर्मुखता से उसको अंतर्मुख कर लेता है पर क्या होगा प्रत्येगात्मान अच्छा। तब चक्र इत्यादि कठोर परिषद दो ग्यारह ब्राह्मण मायात्मा प्रदो प्रदेश कई कर्मचितान ब्राह्मण निवेदन माया नाट्य प्रकृति तब विज्ञानार्थम सद्रुप देवाभिगछे समितान त्रिम ब्रह्मनिष्ठम कार्य परीक्ष लोकान कर्म छिपा स्वकर्म से प्राप्त इस लोक को देखा लोगों को देखा लोक प्रति कैसे यह कहा विषय आने सकल विषय जो संबंध हो रहा है शरीर को लेकर मन को लेकर बुद्धि को लेकर सारी चीजों को देखता साक्ष्य भाष्य सारी चीजें साक्ष्य से देख रहे मेरी बुद्धि खराब है मेरा मन खराब है बोलते भी बोलते आज मेरा मन बहुत प्रसन्न नहीं है तो मन को भी देख रही प्रसन्न है खराब है बुद्धि बड़े आज है बुद्धि इतनी खराब रहती है दूसरी दिन में सब उठक पटक करके रहता है दूसरा आएगा अर्थ हो जाएगा कुछ न कुछ उल्टा तो सब आपको अनुभव में आ रहा है पर इन चीजों को ठीक हो जब समझो लो मेरी बुद्धि मेरा मन मेरी इंद्रिया मेरा शरीर जिसको आप संबंध ही है ना ऐसा संबंध है ना सारा इन्हीं पर लोग करते हैं विश्व अहम दिया अहम तया और मम दया गरीब सर्वम और इदंच क्योंकि जो कुछ ही वो इदम ही बारे में मजा होता है मम ही आराम हो जाता है अमरूद हो गए रोटी है ठीक है तो रोटी है और थाली में पड़ जाते तो मेरा रोटी कुछ हो गया यही रोटी जो निगम था अब मनो तो खा लिया तो हटा कर तो ध्यान यही रोटी का हम हो गया तो इधर ही मामा और मामा ही आम हो करके सारे बंधन में खाना बन जाता है इधर लोग कहा करते अहम से लेकर तक निगम से रहम सब चीज को परीक्षण करके विचार करके चिंतन करके समझो चाय प्रवृत्त है चाय इन्हें पहले प्रयोग करना इनमें से एक भी वित्त नीट एक भी आपके साथ चलने वाला नहीं कोई साथ देने वाला नहीं सब धोखेबाज जितने बचे ये गिरा आज से परिक्रम थी लोग भगवान गिरा है ना ये सब परिक्रम भी है रोड पर खड़े हुए चोर डकैत रास्ते पर खड़े हुए इंद्रिया क्या है ये सब डकैत बोला भगवान आपको लूटने के लिए खड़े हैं हाँ। आपके पास जो कुछ भी ज्ञान है उसको लूट लेंगे और क्या है वो भी खाली है आपको भी खाली वो ज्ञान में रहते वैसे तो चोर तो खाली होता है ना तब तो आपको लूट रहा है वो तो आपके ज्ञान को डुबोएगा और अपना खालीपन आपको दे देगा और अज्ञान में करेगा यही निर्माण करते हैं इसलिए हमको कहा चोर नवद्वार द्वारा द्वार सारी चीजें वो इसलिए बात लगी वो क्या होता है उनको परीक्षण करके थोड़ी कैसे ये बता के अपने कर्म की वजह से था दोष दूसरों को देने से भी अपने कर्म अभी इसी चीज चर्चा भारत हुआ घर और इसी जो पहले का तो कहता है कि मेरे माँ बाप इस बेटी को मैं घर बन मेरी कुंडली खराब है मेरी ग्रह खराब है इसलिए उस समय मेरा जो शरीर का जो जन्म हुआ है उसमें मैं घर और मेरे माता में गलत है वैसे उनकी है और इसलिए गलत नहीं होंगे हमारे पैदाइश को ईश्वर की तो हम थोड़े गलत गलत ये है कि मुझे नहीं पड़ रहा भोगना पड़ रहा इन ग्रहों तो मैंने उसको समझाया ऐसा नहीं होता गलत तुम्हारी तुम्हारे कर्म के से क्यों जाना उसके घर में बीत जाता मेरे को बुलाया नहीं था हिम्मत हमको दिया नहीं तुम मेरा और भी था तेरी कर्म के ऊपर तू स्वर गया था स्वर्ग ने धक्का मारा फिर तुम खत्म हुई तू बाद में गिर पाया और बाद में उसने इंद्र ने पीटा वजन से तो बारिश उनकी जमीन में आया जमीन में आया तो गेहूं में बना तो गेहूं बन गया गेहूं बन गए तो उस जमीन को गया मेरे आश्रम में क्यों नहीं आया <laughs> तो कहा मेरे तुम सारे जन्म का वो है मेरे जन्म का बताओ उसके घर में कर दिया क्या किस अच्छे घर में था क्या तो हमारे यहाँ तो परिवर्तन नहीं करता मेरे यहाँ भी बन जाता क्यों बन के मैं खाता क्या उनको तो मेरे अंदर रहता जुबान तो एक बात है तुझे तो ऐसे घर में नहीं चला के गेहूँ बन गई और एक बात जो बात बना दे रहा है वो खा लिया करोगे और फिर फायदा है इसे गलत जो है तुम्हारे अपना कर माना कर अगर मुझे तो गलत मूर्ख समझ करने वाला कहता है कि गेहूँ बन विधि आता टावर बन गए ऐसे जगह पहुंचता जो सही समय का समन करते जो सही मुहूर्त में पैदा होता घर उत्कृष्ट होते तो सन्यासी बनता यानी नहीं तो कर्म कितना लोग का ही अपनी कर्म जन जो उदार बात बन जा रही तो गड़बड़ हो रहे हैं हाँ। इसलिए कहते तो कर्म के अपने कर्म चाहिए था इन विषयों को परीक्षण करके ब्राह्मणों निर्वेदम माया ब्राह्मण जो तो सत्य का लक्ष्य है क्योंकि सत्य बोलना सत्य में निष्ठा ब्राह्मण में ही माना जाए इसलिए जो बात है कहानी उसमें चांदोगी ने और जाबाल का जाबाल की कैसे पहचान देना गोत्र का कुछ नहीं मालूम था जो माँ ने पढ़ाया था बिल्कुल वही शब्द वहां जाके बोल देता है एक अक्षर मेरा गुरु ने बड़ा झड़ा की बोला और ये बड़ा झड़ा गिर बोलता है छोटे अच्छा, वैसी हो ध्यान नहीं है क्योंकि भक्ति जो होता है ब्राह्मण के स्वभाव में दूसरे के स्वभाव में लड़ाई लड़ना शक्ति के स्वभाव में युद्ध लड़ना महाराजा का कर्म उसके स्वभाव में और हर बात को क्या लाभ है उससे क्या लाभ तू बोलना का काम हर चीज जब याद नहीं है वो नुकसान तो कभी सहन नहीं करता पढ़ने से क्या लाभ मैं समझे इसके अंदर वैश्य गुण ज्यादा है इसलिए लाभ ही देख रहा तो पढ़ोना पहले लाभ जो होना अपने आप होगा मिला है जो अपने आप मिलेगा कर्म करो कर्म चित्त भोग रहे हो और कर्म करो तो जाएगा और उसके अनुसार चयन होगा चित्त होगा और मिलेगा चीज इधर तो ब्राह्मणों निर्वेदम माया ब्राह्मण वैराग्य को प्राप्त करता है नास्त्य प्रकट देना और निर्णय लेगा वे जो अकृत है अकृत कृत्य न कृत में अनित्य के द्वारा इन अनित्य साधनों से उस अकृत मैंने नित्य को मैं प्राप्त नहीं कर सकता निर्णय कर लिया इन अनित्य साधनों से वह नित्य की प्राप्ति नहीं हो सकती नहीं का इन अनित्य साधनों को क्या कर सकते हैं अंत में शुद्धि कर सकते हैं आत्मा की प्राप्ति नहीं ब्रह्मांड की नहीं हो सकती अनंत अनित्य उपाधि मारण भाव से आप केवल अपना अंत कल को शुद्ध करें और बाजू है तो क्योंकि इसको प्रार्थना करना है तो है ही क्या रहे पाप करने की दूर है पाप करने समझ इधर और जो बताए भरत दृष्टि बादल हटा क्या आपने कुछ किया यहाँ न आपने सूर्य का कुछ किया न आपने आंखों को कुछ किया बादल हटा अंत में नहीं वास्तव में न बुद्धि में कोई गड़बड़ी नहीं बुद्धि तो सत्य रूपा है सत्य का कार्य है बुद्धि भी कुछ करने की जरूरत नहीं है बुद्धि जैसे वैसे रहने दो और आत्मा को भी कुछ नहीं करने की जरूरत है नहीं इसको कानून से होनी है उसको कानून से होनी गुना क्या है इन दोनों के बीच में गुसा पड़ा है फर्क नहीं रखा है नल उनका और मन करती है नहीं अभी दो चार साल पहले पता चला जगन्नाथ की दीवार सोने की दीवार जीवनात्मा बाघ बुरा खा अंदर इसमें कोई चीज बनाया पाउडर ये इतना बल भगवान की सेवा में अर्पण करूंगा करके वहां मिल गया और इसमें तो इससे दीवार को बढ़िया था उसने मतलब इसमें है जब पाठ करते हैं ये नहीं कि वो मूत्र में आज इसी नहीं जरूरी गोमूत्र में जानते हो है जब बैल बिहार करके चलती सड़क पर एक किलोमीटर का नहीं होकर बिहार करती रहती है एक किलोमीटर लंबा लगातार नॉन स्टॉप वैसे आपको नॉन स्टॉप गाना होता तो है थोड़ी होता है जहाँ इतना है रुके इधर खिचड़ी हो जाएगी कोई रुक बोल रहा है कोई खड़े रह के बोल रहा है कोई उधर नहीं आए थे कोई मंदिर पुलिस कूद रहा है सब गड़बड़ होता है लेकिन मत जाना उसको जहाँ इतना आराम से हुआ था भाष्य में कि परीक्षणोपांतरजुदान ब्राह्मणों निर्वेदम माया नाथेना तम विज्ञानार्थम सदुर्मेरा विगच्छे जीवत्वाणी इत्यादि आठर्वणी यहाँ ही विरक्त प्रत्येक विषय विज्ञान श्रोतुम ऋतु विज्ञातुम सामर्थ्य कारणतम पंजीवाद से कभी इसके कारण ही व्यक्त है वही व्यक्ति वास्तव प्रत्येक विषय का यह जो विज्ञान है इसको श्रवण करने मनन करने और अनुभव जिज्ञासन करने का सामर्थ्य वाला होता है यह बात सामर्थम मान्यता उसी के लिए उपकरण हो सकता है जिसके लिए नहीं हो सकता एक प्रत्यगात ब्रह्म विज्ञान संसार विभिन्न ज्ञान काम कर ब्रह्म अशेष तो निवर्तते एक एकवर्ष से एक प्रत्यगात ब्रह्म ज्ञान जो प्रतिगात्मा है वही ब्रह्म है ऐसा निर्ध्यापन द्वारा अनुभूति करने मात्र से संसार विजम अज्ञान संसार का जो कारणीभूत है अज्ञान क्या है अज्ञान पहले कर्म प्रवृत्ति कारणम कारण कर्म की प्रवृत्ति का काम काम और कर्म में जो प्रवृत्ति हो रहा है उसके प्रति कारणभूत होने से वह संपूर्ण ज्ञान शेषत्व अज्ञान समाज्ञान निबंधते अशेषता पूर्ण रूपेण वह अंधकार जो है अज्ञान रूप अंधकार इस प्रति अपने ज्ञान से निवृत्त हो जाता है आकाश कथमन पशद है मंत्र हो रहा तो क्या प्रमाण है कौन व्यावृत होगा पर कहते कि देखो मंत्र स्पष्ट था एक मन पशद पत्र को मोह कहा शोक एकत्व का अनुभव करता है व्यक्ति के लिए कि जगत के किसी विषय में वो कैसे हो सकता है ना शोक भी कैसे होगा चांदी के लिए प्रमाण है पर भी शोकम आप कभी जो आपको देखता है आपका जो स्वरूप जानता है वह साधन को कर जाता है और भी प्रमाण मुंडक तो चांदोग्य तो मुंडक कर दिया चांदोग्य साकी मुंडक जो जो आप कहिए विद्यते हृदय ग्रंथे छिद्यंते सर्व संशया क्षीयते चाति कर्माणी तस्मिन दृष्टे परावरे विद्यंते हृदय ग्रंथि हृदय के ग्रंथि टूट जाती है इसको विलक्षण क्या है यदि हमारे यहाँ तीन ग्रंथि या तो उसको विलक्षण करनी पड़ेगी ग्रंथि है और इसलिए पहले विद्य भी हृदय ग्रंथि ये उपलक्षण है हृदय ग्रंथि क्या है उपलक्षण मानना पड़ेगा क्योंकि शरीर के अंदर तीन ग्रंथियां मानी ब्रह्म ग्रंथि रुद्र ग्रंथि विष्णु ग्रंथि तो ब्रह्म ग्रंथि का केवल यदि आप रुद्र ग्रंथि हृदय में विद्यमान रुद्र ग्रंथि को ही छेदन कर दोगे फिर दो ग्रंथियां रह जाएंगी नहीं उसके बिना होगा नहीं मुक्ति तीनों ग्रंथियों का भेदन होना जरूरी होता है तो इसलिए यहां पर हृदय ग्रंथि कह करके जो कहा जा रहा है वो उपलक्ष्य है तीनों ग्रंथियों का उद्भेदन हो जाएगा उद्भेदन हो जाने से सर्व संशया चिंतन सभी संशय मिट जाते हैं क्षीणताप से कर्माणी और साधक के जितने भी कर्म आगे फिर जन्म देने लायक नहीं रह जाएंगे नष्ट जो इस जन्म के कारण थे वो तो चल ही रही है इतना छोड़ नहीं सकते जब तक शरीर रहेगा तब तक तो चलेगा फल देना आरम्भ कर चुका है इसलिए दृष्टांत है शून्य आई है हम है ना क्षिप्त हाँ, शून्य आप तो कहते हैं क्षिप्त शून्य तो क्योंकि शुकार में अलग है शिव शून्य अलग चीज है दो अलग शिव शून्य क्या होता है हमारे पास तीन प्रकार के बाण एक तो बाण है जो आपके धनुष से छूट गया तो उसको क्षिप क्षिप में फेंक दिया गया है ना फेंक दिया गया है और क्षिप इशू है वो छूट गया आपका हाथ से निकल गया और दूसरा वो बाण है जो अभी लगा रखे छोड़ने के लिए संबद्ध है छोड़ा नहीं है पकड़ रखे और तीसरे वो प्रोटीन है जो कि आपके पर्कस में भरे पड़े तीन प्रकार के होते एक क्षिप्त एक संबद्ध और एक जो है आलू हम कर्क से करें अब से लोग बहुत तर्कस वाला है संचित कर्म कीजिए और ये क्रियावान और करने को तैयार है छोड़ने को तैयार है जो छूट गया तो छूट गया और इनमें से विचार करके देख लीजिए आपके हाथ से बांध छूट गया हो जा रहा है इतना मालूम हो गया आपको कि वहां गाय है आप उस दान को रोक सकते हैं रोक नहीं सकते नहीं ये संयम है इसको तो रोक सकते हैं और ये आरूर्य करता उसने इसको मत देखा नहीं इसको नहीं छोड़ता दूसरा छोड़ूंगा गाय है तो ऐसी बात नहीं इसको भी नहीं छोड़ेंगे इसको भी नहीं छोड़ेंगे और नहीं ये छोड़ गया लगे ना लगे वो तो गया इसलिए यदि यहाँ भी ज्ञान क्या करता है जो कर्म फल देने के लिए छूट चुके हैं फल दे चुके हैं शरीर को तो पैदा हो चुका है और इसका तय है कि कौन से दिन क्या होना किस दिन पाठ छूटना है किस दिन पाठ सुनना है क्या होना क्या नहीं होना सब तो पैर में दिखा होगा वो सारा चल रहा है तो चलेगा वो तो निकल चुका आपके हाथ से और इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते परिवर्तन नहीं कर सकते घटा भी नहीं सकते बढ़ा भी नहीं सकते बदल भी नहीं सकते जिस शरीर के साथ होना है जितना टेम्परेचर बुखार आनी है तो आएगा उस तारीख आप रोक नहीं सकते फिर यह है जो क्रियमान और वंचित ये हमारे मर्जी पे है कोई क्या नाश करता है छिंदे काफी कर्मानी से उन कर्मों को नाश करता है जो संचित है और क्रियमान है संबंध और बाण के समान वो अपनी मर्जी है उसको नष्ट कर सकते हैं तो नष्ट अच्छा छूट गया किसी और ऐसी तो हो जाता है कब अगर होता है कब तस्वीर दृष्टि बराबर तो जब पर्व है अवर जिसमें उस परावर का अनुभव करने पर ऐसा परम ने हिरण्य गर्म ईश्वर यह भी अवर निकृष्ट कल्पित है जिसमें ऐसा तत्व का नाम परावर तत्व तस्वीर परावर तत्व शुद्ध ब्रह्मणी दृष्टि अनुभूति सती समर्थ

कर्म विशिष्ट ज्ञान के द्वारा भी हो सकती है कर्म संहिता विज्ञान ईश्वराश में भी इस प्रकार साक्षात हुआ स्थापन कर रहे हैं कर्म सहित ज्ञान से भी ये तब सिद्ध बात सिद्ध हो जाए मैंने कहा ये जो फल आपने बताया तो प्रभावकाशों का ये सारा जो फलादेश आप बता रहे हो ये सब जो है कर्म समुचित उपासना के भी संभव है ज्ञान से पहले उपासना शुद्ध ब्रह्म ज्ञानी बारह शुद्ध ब्रह्म ज्ञान के लिए कर्म से होता है एक जन विधि परिगृहित उसका हेतु क्या है कर्म कांड और ज्ञान कांड दोनों के दोनों स्वाध्याय और चेतव्य इस एक ज्ञान के अधीन होकर विहित तो है जिसने कर्म कांड को पढ़ा वही ज्ञान कांड भी तो पढ़ेगा ना लेकिन संपूर्ण योग पढ़ने का जिम्मेवार स्वाध्याय और चेतव्य स्व को शाखा मात्र पढ़ेगा ही और शाखा में उनका उपनिषद तो पड़ेगा तो पाठ पड़ेगा पूरे शाखा का शाखा का एक अध्याय थोड़े छूट जाएगा जितना भी अध्याय है सारा पड़ेगा शाखा के अंदर तो फिर उपनिषद मिला हो जाएगा और आप भाई हो इसलिए उसको भी कर्म से ज्ञान से छू जाना चाहिए उपासना भी पढ़ा है जानता है ज्ञान भी पढ़ा है जानता है सब मिला करके उसको मोक्ष नहीं होना चाहिए हम्म। ये तो मैं बड़ा बात चाहिए कर्म से चेता ज्ञान उत्तमे संविधान संता निवृत्त लक्षण फलम से दी मैं कर्म से व्यक्त से प्रसद आरंभिक इधर कहते हैं इसलिए आपने पहले प्रतिज्ञा किया जो कर्मों से विरक्त है ऐसा जो मुमुक्षु से ही ज्ञान में अधिकार है उसी के लिए फल मिलेगा ये आपका कहना ठीक नहीं है कर्म समुचित ज्ञान से भी मोक्ष हो सकता है तो राज्य से अन्य कारण को अभ्यास में मैंने प्रदान उपदेश है तो अंगीकार रचना दोनों का अलग अलग फल है ये बात का कर्म सहित उपासना का अन्य फल बताया केवल कर्म का फल अलग कर्म सहित उपासना का अन्य फल बताया और तुमने कर्म से उपासनाया कर्म से उपासना का जो फल है वो अलग बताया गया है और तीन ज्ञान का फल अलग बनाया गया क्या है वह पता ही नहीं भाषिकार स्वयं से जाते हैं उस तो लोग ब्रजन को परिषद में क्या बोला गया जाया ने उसने संगल किया एक हम बहुत श्याम प्रजाया मैं जो तो एक हुआ तो दो पहले एक आके न रमते वह अकेला था उसको आनंद महसूस नहीं हुआ स्वच्छता क्या इस नम्न संकल्प के रूप तो हम भविष्य मुझे एक हूँ मैं लोग हो जाऊं इस स्वप्न में हो जाता हूँ मैं कैसे हो जाऊं क्या पत्नी का हाँ तो मन एक है बैठा हुआ है मन की मरीज कर लेता हूँ पर उसमें इसलिए जाया पत्नी घटने से क्या होगा इत्यादि प्रस्तुत पुत्र प्राप्त होगा फिर अंत में लिखा पुत्रेण आयु लोको जीवो नान्य कर्मणा कर्मणा पितृलोक हो देवलोक है एक चार सत्रह पुत्रेण आयु लोको जीवो नान्य कर्मणा पुत्र के द्वारा इस लोक को जीत लेना चाहिए अन्य कर्म के द्वारा आप जीत नहीं सकते एक चार सत्र अपने अपने जयन इसका सोलह में है वहां से पूरा प्रतिबंध पूरा एक साथ सोलह सौ करते हैं कर्म रातिलो कहा विद्या देवलोक कहा और केवल कर्म करोगे पितृलोक प्राप्त करते हो केवल विद्या उपासना करोगे देवलोक प्राप्त करते हो और सभी भी उपासना करोगे तो उसके देवलोक ब्रह्म लोग चले जाओ वो भी देवलोक है तो वहां लेकिन आत्म न अन्य से आत्मा से भिन्न तो आत्मा तो प्राप्त नहीं करेगा कर्म और उपासना से वो तो आत्मा को नहीं प्राप्त करता क्योंकि आत्मा से जो भिन्न है लोक कारण के लोक त्रय के कारण कारणत्व उसको कहा है त्रैवच विधान एक रूप कहा और उसी वायु में परिव्रजन का भी विधान किया चार चार विधान ने भी कारण बताया हमारे राज्य विधान मैंने संन्यास विधान क्या हेतु कारण का विकसन किया अभी क्यों संन्यास ले रहा आदमी इसीलिए क्यों उसके मन में निर्णय होगा किम प्रजया करिष्याम तेषा नो अयम आत्मा मैं प्रजा आदि को उत्पन्न करके क्या करूंगा स्वयं विस्तृत व्याख्या करूंगा आजकल इस हेतु भूता मृदान्य खंडिका का इलाज क्या प्रजा कर्मो तत्संयुक्त विद्या भी प्रजा उत्पत्ति और उसके कारण से किए जाएंगे कर्म उन कर्म से संयुक्त उपासना आदियों के द्वारा जिसे भोजन कर प्रजा कर्म तुम तो संयुक्त जो विद्या इनके द्वारा मनुष्य पितृदेव लोक साधन मनुष्य लोक पितृलोक और इन लोक का साधन है पुत्र तो अयम लोक को चाहिए अयम लोक में मनुष्य कर्मण पितृलोक विद्या देवलोक इन बताया ना इसलिए इन तीन के द्वारा जो मनुष्य की जो देवलोक है साधन साधन ही अनात्म लोक प्रतिपति कारण ही ये सब कैसे है के लोक को प्राप्त करता नहीं है अनाथ लोग प्रतिपत्ति है अनाथ लोग की प्राप्ति का कारण है मैंने साधन ही इनके द्वारा किम भविष्य किम प्रजा है ना यही मतलब प्रसन्न समझो प्रजा कर्म किया इन तीन बाबरों की तरह प्राप्त जो ये लोग जो कि अनात्म लोग है इनको प्राप्त में क्या करूंगा ऐसा जिसके मन विचार जाता है वो व्यक्ति न चुनाकम लोकत्रम अनित्यम स्वयं साध्यम उस व्यक्ति को निर्णय लेता है अस्माकम हमको जो है लोकत्र जो कि अनित्य है ऐसे साध्य साधन रूपा यह चीज निर्णय ईशा अस्माकम स्वाभाविको क्योंकि हम क्या चाह रहे हैं कि हम लोग ये चाहते हैं जो स्वाभाविक है अज है अजय है अमृत है अभयो नवर्मते कर्मणा नो कन्या के नित्य लोक इष्ट जो कि कर्म से न बड़े में घटे ऐसा जो नित्य लोक है आत्मलोक है वो हमारे इष्ट है केवल कोई भी निगनिष्ठ साधु सारी प्रकार साधन घनिष्ठ नहीं निश्चित न व्यतिरेक अन्य साधन निष्पाद्य है और नित्य होने के नाम नित्यात्मा हो गया विद्युत प्रकार नित्यत्मा ठीक हो गया तो ठीक है उसको आश्चर्य ठीक कर लेना नित्यत्मा न अविद्यावृत्ति व्यतिरेक अविद्यावृत्ति के बिना अविद्यावृत्ति बिना विद्या निवृत्ति के बिना जो है अन्य साधन निष्पाद्य मन नकार निष्पाद्य है अन्य के साधन के द्वारा वह निवृत्ति वस्तु निष्पाद्य नहीं है अस्मात प्रतिवाद प्रविज्ञान का संवेशना संन्यास योग इसलिए प्रतिवाद ब्रह्मज्ञान पूर्वक सर्वेष्टाओं का त्याग करना ही वास्तविक कर्तव्य है इसके लिए जिसको ये सब चीजें इच्छित नहीं अतीव कर्म सहित उपासना की भी मोक्ष नहीं हो सकता कर्म सहभागित विरोधा कर्म सहभावित विरोधाक्ष और ऐसे था पारिव्राज्य विधाना पहला हेतु क्या था पारिव्राज्य विधाना और दूसरा हेतु हो गया कर्म या तो उसको पारिव्राज्य विधाना दे लो पर सर्वस्था का संन्यास विधाना बात एक है और कर्म स्वाभाविक दूसरा प्रत्येगात्म विज्ञान ये जो प्रत्येगात्म विज्ञान है कर्म विज्ञान है तो कर्म स्वाभाविक तो है जो उपासना के साथ में विरोध होता है मैंने एक साथ कर्म और ज्ञान दोनों हो नहीं सकता ज्ञान है तो कर्म गया कर्म है तो ज्ञान नहीं लेकिन ज्ञान के लिए ये मत सोच रहे हम ज्ञान के लिए लगेंगे हमें कर्म करने की जरूरत ऐसे नहीं सोचना पहले भूमिका स्पष्ट बोल चुके हैं कम शुद्धि के लिए ये बहुत जरूरी है ये साबुन है ये कर्म उपासना ये जो शरीर नहीं है क्योंकि धोएगा अंतर कल काम करेगा नहीं और बिना धोए आप जितना दिन पढ़ लो कोई भय नहीं होगा शब्द अर्थ निश्चय होगा लेकिन वास्तविक जो तक अनुभूति नहीं मिल सकती है इसे अंतकम शुद्धि के लिए कर्म उपासना नित्य आश्रमानुसारेण प्रत्येगात क्या इसलिए बात है कि देखो जो प्रत्येगात विज्ञान का ये विशेषता है कि जो इसके लिए कर्माधिकार और उपासनाधिकार जहाँ है वह ज्ञानाधिकार नहीं हो सकता क्या ज्ञानाधिकार है कर्म उपासनाधिकार नहीं सकता सहायक कारण है केवल अंतर्गम शुद्धि के लिए ज्ञान नहीं ज्ञान तो इस पर नहीं कर सकते हैं ये ज्ञान को उत्पन्न नहीं करते हैं ये केवल अंतकरण को शुद्ध दे करके अंतर्मुख होने में उपयोगी होता है ये जो गया उपरांत छिकानी वितरण स्वयं हुआ है उपरांत तो सती अंतरात्मा उसके आवृत तो चक्षुर पशुरात्मा इच्छा वो स्थिति को लाने के लिए कर्म पा जो स्वभाव से बहिर्मुखता है उसको निवारण करके अंतर्मुखता बनाने के लिए इस चीज की जरूरत है विवेकानंद जी सब ये पाते थे सामान्य रूप से उनके लेखों में है एक उनका कहना है कि भाई देखो क्योंकि उनके पास एक परिवार वाले गए और कहे कि हम इतना पढ़ रहा हमारा बेटा पढ़ता है लेकिन अब ढील हो जाता है या पास हो जाते तो उसका परसेंट में होता है तो उन्होंने उपदेश दिया कहा कि देखो केवल पढ़ने वाला भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता केवल पूजा पाठ आशा कर भगवान पर छोड़ देगा भगवान मेरे को पाप करेगा भगवान परीक्षा लेते नहीं आएगा इतना है तुम्हारे असल में चलेगी तो भगवान की कृपा से सही चल पड़ेगी तुम गौर करोगे इसलिए क्या है तुझे दोनों करो प्रार्थना भी करो और पढ़ाई का परिश्रम भी करो दोनों भी सही प्रकार से करेगा दैवीय शक्ति और मानवीय शक्ति दोनों का संतुलन जब हो जाता है पर सफलता निश्चय होता है इसलिए यदि कोई भी मार्ग में जाओ कोई भी ज्ञान प्राप्त करने जाओ किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करना है तो पहले प्रार्थना फिर परिश्रम दोनों के बिना सफलता कभी नहीं पूरा होता वही यहाँ पर उपासना कहेंगे हम यदि मनुष्य परिचालक निष्काम भाव से कहा था ना निष्काम भाव से मनुष्य को कर्म और उपासना करनी चाहिए कर्म में भी काम कर्म करने की जरूरत नहीं है नित्य कर्म करो नियमित कर्म करो नित्य नियमित कर्मों को निष्काम जितना करेगा वो मोक्ष उतनी शीघ्रता पर उसके अंतर कल शुद्ध हो जाएगा उतना ही शीघ्र सारी चीजें उसको जो है आराम से बिना हाजमो अच्छा, लाता तो हाजमला भी नहीं है जा रही जरूरी रोटी पचा देगा ये पचना बड़ा मुश्किल है इतनी नहीं पार्थ कार्य फल भेद विज्ञान कर्मणा प्रत्यस्तम फल भेद दर्शन संप्रदाय ब्रह्म विषय क्योंकि जिसमें कारक का फल का भेद और फिर ज्ञान को ग्रहण किया हुआ है ऐसा कर्म के द्वारा जिसमें सकल भेद प्रत्यस्तलित विनष्ट प्रत्यस्थल में स्नान कर दिया गया भेद दर्शन का प्रत्येगात्म विषय ब्रह्म विषय का सहभागित्व तो कभी भी नहीं उत्पन्न होते नहीं कुमार होते नहीं उत्पन्न होते क्यों एक मान रहा है अर्थ भेद फल भेद और इन दोनों का विज्ञान को ग्रहण करके आपको कर्म करना उपाध्य कारक फल भेद विज्ञान गृहित कारक भेद विज्ञान और गृहित फल भेद विज्ञान ये विज्ञान हमारे अंदर दिमाग बैठे रहना चाहिए मैं अलग हूं और मेरे लिए होता और देवता अलग ये कर्माधिकारी मैं अलग हूं मेरा उपास्य अलग है एक कारक भी मैं उपासक हूं ये उपास मैं कर्म का कारक हूं ये कर्म का देवता है यह भेद के बिना आप कर्म नहीं कर सकते मैं एक मनुष्य लोग भी हूं और मैं सब लोग को प्राप्त करना चाहता हूं जन जागरण प्राप्त कर फल होता ये तो मनुष्य लोक है ये भी फल है ये जो प्राप्त है ये भी मेरे ही किसी कर्मों का फल है ये और मैं अन्य कर्मों के द्वारा स्वर्ग प्राप्त करना चाहता हूँ तो फल भेद को जो जानेगा वही कर्म का निश्चय जो व्यक्ति इस प्रकार से कार का भेद को ग्रहण कर रखा है फल भेद को ग्रहण कर रखा है वो कर्म करेगा और कार्य कर्म के द्वारा सर्व भेद प्रत्यय जीव ब्रह्म मैत्री का कोई प्राप्ति नहीं कर सकते जिसमें भेद दृढ़ है आरोपित करके मान के करना अलग चीज है आरोपित मान के करना तो इसका भाव से वो करेगा मोक्ष सामान्य बात क्या है कर्म के बल के साथ है कर्मोपासना से उसका मोक्ष हो जाए इसलिए कर्म बात मोक्ष की बात नहीं है इसलिए पहले कर्म के द्वारा बीमा करेगा सीधा ही कर्म से मोक्ष होता है उसे कैसी कहेंगे भाई कर्म से हो नहीं सकता कि दोनों एक साथ होते होते एक भेद निष्ठ है और दूसरा अभेद निष्ठ है इसलिए कह रहे हैं प्रत्यंत सर्वभेद दर्शन से प्रत्यगात ब्रह्म विशेष जिसमें समस्त प्रकार का भेद विज्ञान नष्ट हो चुका है प्रत्यक्ष हो चुका है अभेद निष्ठा बन चुकी है ऐसा जो ब्रह्म प्रत्यगात ब्रह्म विज्ञान है उस साथ इस कर्म का सहभागितम नहीं उपजते सहभागित कदापि हो क्यों क्योंकि जो आत्मविज्ञान दर्ज है वस्तु प्राधान्य सत्य पुरुष तंत्र प्राप्त ब्रह्म विज्ञान से जो गुरु विज्ञान दर्ज है वस्तु प्रदान होता है कैसे वस्तु विज्ञान लकी वस्तु है पर भगवान ज्ञान नहीं है नहीं इसमें तो गलत है असल घटाई तंत्र नहीं है मिथ्या घटा जटिल नहीं है वस्तु प्रधान है मैंने हमेशा क्या होता है हम ये देखना पड़ता है कहा कौन सी ज्ञान में क्या चीज प्रधान है ज्ञान तो वृत्ति से उत्पन्न हुआ चलो तड़ाग न्याय से स्पष्ट हम्म। तो तड़ाग न्याय वो तालाब जरूर परिभाषा से आया तालाब से पानी निकला नाली में नाली से खेती कि खेती का आकर रिसाव करता है इसे संपर्क करना हमारा तालाब है यहाँ से वृत्ति निकलती है ये नाली के माध्यम से बाहर आया विषय की खेती को प्राप्त करके विषय का अनुभव नहीं होता इसमें भी यदि केवल वृत्ति चेतन और विषय चेतन एक हो जाता है तो ज्ञान प्रवेश होता है और अंतर्गणा चेतन प्रभात चेतन प्रधान चेतन विषय चेतन लिए हो जाता है तो विषय प्रदेश होता है इन सिद्धांत आपको जानते हैं बोल रहे हैं जो व्यक्ति का विज्ञान हो रहा है उस विज्ञान में प्रधान कौन है तो ज्ञान में वस्तु ही प्रधान होता है ये वस्तु प्रधान यदि है तो जैसा वस्तु वैसा व्यक्ति नहीं दिखाई देता सूर्य का रजो का भी नहीं होगा चंद्रमा को थाली की भी नहीं होते चांदी का क्यों छोटा दिखाई दे रहा है तो कहना पड़ता है वो भी ज्ञान वस्तु ही होगा यही था लेकिन वृत्ति पर वृत्ति के पहुंचने में दोष समर्पित दोष ने वृत्ति को कलुषित कर दिया अतः वस्तु की यथार्थ रूप को मैं पकड़ नहीं पाया यानी वह भी ज्ञान वस्तु है लेकिन बिना भी हुए न यथार्थ ज्ञान हो सकता है न अयथार्थ और यह ब्रह्म विषय नहीं क्यों विसर्जन हृदय के ऊपर पैदा होता है तो इसमें न संशय है बल्कि ये सब संशय का नाशक है इसी का भ्रम है क्योंकि भ्रमों का नाशक है क्योंकि ये अज्ञान का ही नाशक और भ्रम संशय क्या है अज्ञान का कार्य तो कारण ही नहीं रह जाता है कार्य करने को कुछ इसलिए का कहना है कि देखो वस्तु प्राधान्य सत्य पुरुष स्वतंत्र ब्रह्म विज्ञान से जो चित्तकार है वस्तु प्रमाण अतिरिक्त दिया प्रमाण से वस्तु अनुसार प्रमाण अपेक्षा विषय चुनाव पालन्य भाव ये प्रमाण हमेशा वस्तु का अनुसरण करता है इसलिए प्रमाण की अपेक्षा से विषय हमेशा प्रमाण ही होगा ये दृष्टि वायु का साध्य विरक्त से ब्रह्म जिज्ञासु केंद्रित नित्या प्रदर्शित है इसीलिए दृष्ट और दृष्ट समस्त प्रकार के बाह्य साधन और साधनों से जो विरक्त है उसी के लिए ही प्रतिपाद की ब्रह्म जिज्ञासा को केंद्रित नित्या श्रुति के द्वारा आरम्भ किया गया है यहाँ प्रश्न प्रतिवचन क्यों बनाया आपने इस वास्तव जैसे क्यों बोलते हो तब कहते हैं शिष्य आचार कष्ट प्रतिवचन रूपेण कथन तो सूक्ष्म क्षेत्र सुख प्रतिपत्ति कारण भवती बहुत उत्कृष्ट तरीका ही चले था उसे भी केवल सात मंत्र ज्ञान दी सोलह नौ कर्मों पर पहुंचे ले गया संख्या के बाद विषम करती इसको सात में लिया और तो नौ में वो तो सूत्र का उत्कृष्ट अधिकारी ये था अब मध्यम अधिकारी के लिए मध्यम अधिकारी कैसे क्योंकि जो है सूक्ष्म विषय होने से सुख प्रतिपत्ति कारण घनायास प्रतिपत्ति हो इसलिए कथा आदि यहाँ जोड़ देंगे इंद्र था पाया उसको भिगाओ इसको भिगाओ ये आया आप कहानी के रूप में समझाने की कोशिश करेगा कि हमें आपको मालूम हो प्रतिपत्ति हो जाए ज्ञान हो जाए कि तो वह ब्रह्म का स्वरूप क्या है इसलिए शिष्य आचार्य का प्रति प्रतिवचन रूप है और प्रतिवचन रूप से जो कथन किया गया है प्रश्न प्रतिवचन रूप में जो कथन हुआ है वो सूखी सुख से होने से और सुख प्रतिपत्ति का कारण होने से हम लोगों को इस प्रकार से बताया गया है कि गर्भ पंचदर्शितम भवती एक और भी विचार निकल रहा है ये भी बताना चाह रहे हैं कि केवल तर्क की जरूरत गंभीर श्रवण किया और तर्क देकर उसको जानने की चेष्टा करो कि नहीं हो सकता वक्त गुरु के पास जाना जरूरी है पापस्तु प्रतिवचन के द्वारा ही जानना से गीता ने भी बोल दिया कल भी दिन घड़ी बाद तो उसके उसके वास्ता है ही पूछना जरूर पड़ेगा अपना कर लिया हो गया ऐसे नहीं चलेगा एक बार एक यूनिवर्सिटी में छात्र बोला रखा कोई टीचर नहीं हमने किसी टीचर से चलाई कोई प्रोफेसर कोई लेक्चरार नहीं कुछ करे नहीं मैं देवरी क्लास में सब मेरा बल तो है मेरे दादाजी भी है अटेंडेंस मेरे नाम की गिर जाती और किसका बात हो जाती है यही तो मेरा कमाल है हमारे तो क्या था दूसरे कॉलेजों से क्लास लड़का कंप्यूटर के समारंभ है

लेकिन हम तो दूसरे पढ़े ही नहीं हमको क्या करनी चाहिए हम तो सोचेंगे थोड़ा तो बड़ा सोच अच्छा बिना इसका कभी कोई ज्ञान उसका व्यक्ति को पूरा प्राप्ति नहीं हो सकता परिपक्व भी हो नहीं सकता देख लीजिए शहर में आप चले जाते हैं ना तो साइन बोर्ड लग रहे पूरा नयन बना रहे इस मोहल्ले में आप यहाँ आप अभी जो खड़े हैं यहाँ से इधर निकलिए ये गली आप वहां का नंबर नंबर सब कुछ दिख रहा है उसके बावजूद भी आप सीधा पूछ रहे हैं बीमार पूछे लौकिक व्यवहार में भी आप देखते तो हैं लेकिन शास्त्री व्यवहार है इस जून विषय को नक्सल बना हुआ उसे भी समझ नहीं पा रहे हो यानी नक्सल से बदलने वाला चीज है लेकिन सूक्ष्म विषय था सूक्ष्म वस्तु विषय था और इसको अगर अपने बुद्धि के तर्क कुशलता से ग्रहण करना चाहे तो असंभव है इसलिए स्पष्ट कठोर परिषद में कहा है नई शास्त्र के नीति उपनिषद एक दो नौ शामति ही तर्केण न ये जो मति है अन्य धर्म अन्य धर्माद ये जो मति है किस मति को आप किसी भी प्रकार से तर्क के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते आचार्य अनुभव कौन जानता है जो आचार्य पुरुष को जानना आचार्य अभिविद्या विदा साजिष्ट प्राप्त इतना आचार्य के मुख से जाना हुआ जो विद्या वही निश्चित रूप से फल को सिद्ध करने वाली होती है तब नहीं मेरे पाते नित्य श्रुति स्मृति देवा छठे गीता इस से छांदे की हो है? ये जो गीता है इस प्रकार से श्रुति और स्मृति नियमन किया हुआ है कश्चित गुरु ब्रह्म विद्वदेत्य प्रत्येगात्म शायद अन्य शरण अपश्यम अभिनित विश्वम अचलम इच्छन प्रपक्ष कल्पते इस मंत्र का आरंभ पर इतनी कल्पना कर लेनी पड़ेगी व्यक्ति जो है था कोई जिज्ञासी मोक्ष था परम लक्त था और वो अंत कर्ण परम पवित्र शुद्ध था उसने भी निर्वाह समित पानी और माल पानी होकर के पहुंचा है पहुंच करके प्रत्येगात्म विषय विषयादन्यत्र प्रत्येगात्म विषय से भिन्न में शरण अवश्य प्रत्येगात्मा विषय से भिन्न शरण पेड़ कर्म रखना इनमें शरण आश्रय उसको नहीं मिला गति नहीं दिखाई दी तब उसने क्या किया अभ्रियम नित्य शिव अजल नित्यम जो अभय है नित्य है शिव है कल्याण रूप है शिव शिवजी श्रम ने कल्याण कहा कल्याण रूपम शिवम अचल इच्छन अचल को प्राप्त करता जो चलायमान नहीं है उसको चाहते हुए गुरु के शरण में विद्रोह कर चुके हैं गुरु के शरण में आ चुका है आकर के परीक्षा कल्पना से जोड़ होता